जो बात को गौर से सुनते हैं फिर उनमें से सबसे अच्छी की पैरवी करते हैं ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और यही लोग अक्लमंद हैं